राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम कान मधुपंत द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी लेकर आया नया तमाशा सुन लो रामू मीरा आशा तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कैसा तमाशा है अरे भाई आज हम खेलेंगे एक नया खेल हाँ ये खेल है तरह तरह की आवाजों का मैं तुम्हें सुनाऊंगा तरह तरह की आवाजें और उन्हें सुनकर तुम्हें बताना होगा कि ये किसकी आवाज है हम्म ठीक है ना तो सबसे पहले सुनो ये आवाज हाँ, तुमने ठीक पहचाना ये है डुगडुगी की आवाज हाँ अच्छा ये बताओ जरा ध्यान से सुनना अरे रे रे रे अभी छुट्टी का घंटा थोड़ा ही बजा है ये तो मैं तुम्हें घंटे की आवाज यूं ही सुना रहा था और अब जरा सुनो तो हाँ ये है घुंघरू की आवाज अच्छा बच्चों अब यह बताओ तुम मेरी आवाज कहां से सुन रहे हो क्या कहा <laughs> रेडियो से अच्छा अब एक काम करो जरा अपने कान बंद कर लो दोनों कान बंद करो हां हां सभी करो अपने कान बंद अब सुनाई पड़ती है यह आवाज नहीं सुनाई पड़ती ना कान बंद करने पर तो कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो बच्चों ये तरह तरह की आवाजें तुम किससे सुनते हो कान से ही ना ये कान हमारे कितने काम की चीज है क्या तुमने कभी ये सोचा है यदि कान न होते तो किसी को कोई आवाज ही न सुनाई पड़ती बिना कानों के दुनिया बिना आवाज की हो जाती है तो आओ आज तुम्हें कहानी सुनाऊं कान खोलकर सुनना ये कहानी है गज्जू हाथी की उसके थे लंबे लंबे बड़े बड़े पंखे जैसे कान गज्जू को अपने गानों पर बड़ा घमंड था वो सोचता था कि मेरे तो कान इतने बड़े बड़े हैं चाहूं तो कानों से बातें सुनूं और चाहूं तो पंखा झलूं उसे चूहे के छोटे छोटे कानों को देखकर बड़ी हंसी आती थी चूहा हाथी का पड़ोसी था जिस पेड़ के नीचे हाथी रहता था उसी पेड़ के नीचे जमीन के अंदर चूहे का बिल था जब भी चूहा अपने छोटे छोटे कानों को खड़ा किए बिल से बाहर झांकता <laughs> गज्जू को हंसी आने लगती लेकिन गज्जू हाथी को ये नहीं मालूम था कि उसके पंख जैसे कान कभी कभी उसके कानों के छेद को ढक देते हैं हाँ और उसे सुनाई ही नहीं पड़ता है चूहे के कान थे तो छोटे छोटे लेकिन बड़े ही तेज थे दबे पांव बिल्ली आती लेकिन उसकी आहट भी वे सुन लेते एक दिन की बात है दोपहर में पेड़ की छाया में गज्जू हाथी सो रहा था उसके पंखे जैसे कानों ने ऊपर आकर कानों के छेद ढक दिए अब हाथी को कोई आवाज ही सुनाई नहीं पड़ रही थी तभी चूहे ने सुना दो आदमी हाथी का नाम लेकर कुछ बातें कर रहे हैं चूहे के तो कान खड़े हो गए वो ध्यान से कान लगाकर सुनने लगा उनकी बात पहला बोला इस हाथी को पकड़कर सर्कस वालों को क्यों न बेच दिया जाए तो दूसरा बोला हाँ हाँ चलें झटपट गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर लकड़ी डाल देंगे लकड़ी के ऊपर घास फूस डाल देंगे जिससे गड्ढा मालूम ही न पड़े जब हाथी उठकर पानी पीने नदी की ओर जाएगा तो उसका पैर गड्ढे में फंस जाएगा और हम मोटे मोटे रस्सों से बांध लेंगे उसे ये कहकर वे गड्ढे खोदने के लिए आगे बढ़ गए चूहे ने अब झटपट आकर हाथी को आवाज दी गज्जू ओ गज्जू पर गज्जू के कानों पर जू तक न रेंगी डरते डरते चूहे ने हाथी के कानों के बड़े पंखे को हटाकर छेद के अंदर मुंह डाला और आवाज दी गज्जू भाई ओ गज्जू भाई जब गज्जू ने थोड़ी सी आंखें खोली और बोला क्या है चूहे भाई तो चूहा बोला गज्जू भाई गज्जू भाई आए इधर शिकारी भाई तुम्हें पकड़ कर ले जाने की वे करते हैं बातें भाई लेकिन गज्जू ने चूहे की बातों पर ध्यान ही न दिया और फिर सो गया इसी बीच शिकारियों ने गड्ढा खोद लिया और उस गड्ढे को ऊपर से लकड़ी और घास फूस से ढक दिया शाम को गज्जू उठा और कान हिलाकर खड़ा हो गया वो नदी की ओर जाने ही वाला था कि चूहा फिर आकर उससे बोला गज्जू भाई गज्जू भाई आए इधर शिकारी भाई तुम्हें पकड़ कर ले जाने की वे करते हैं बातें भाई गज्जू ने चूहे की बातों पर फिर ध्यान न दिया सुनी अनसुनी कर दी फिर वह हंसते हुए चूहे से बोला <laughs> अरे चूहे भाई मैं दूसरों की सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता मुझे तो शिकारियों की कोई बात सुनाई नहीं पड़ी तुम्हारे ये छोटे छोटे कान बज रहे होंगे मेरे इतने बड़े बड़े कान हैं आखिर कुछ तो सुनाई देता चूहा चुप रह गया गज्जू हाथी झूमता हुआ नदी की ओर चल पड़ा अभी वो कुछ दूर ही गया था कि ये क्या उसकी तो एक टांग ही फंस गई गड्ढे में जितना निकलने की कोशिश करता और भी फंसता जाता अब तो वो बड़ा पछताया कि उसने चूहे की बात सुनी अनसुनी क्यों कर दी उसने चूहे की बातों पर ध्यान न दिया उसी का फल भुगतना पड़ रहा है इतने बड़े बड़े कानों का फायदा ही क्या जब वे वक्त पर सुन ही ना पाए इधर शिकारी तो ताक में थे ही हाथी को फंसा देखकर उन्होंने मोटे मोटे रस्सों से उसे बांध लिया और ले चले अपने साथ अब तो गज्जू चिल्लाया चिंगाड़ा जोर से तो उसकी आवाज सुनी चूहे ने छोटे छोटे कानों से वो समझ गया कि गज्जू फंस गया है चूहा हाथी की आवाज सुनकर उसी ओर गया कुछ दूर पर उसने देखा कि शिकारी गज्जू को रस्सों से बांध कर ले जा रहे हैं और हाथी चिंगाड़ रहा है बस फिर क्या था वो चूहा भी पीछे चलता गया चलते चलते वे शिकारी सुस्ताने को जैसे ही रुके कि चूहा मौका देखकर गज्जू के ऊपर चढ़ गया और उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोला ये सुन हाथी बड़ा खुश हुआ और उसने अपने बड़े बड़े कानों के अंदर चूहे को छुपा लिया शिकारी और हाथी आगे चलने लगे कुछ देर बाद रात हो गई हाथी को खूब मोटे पेड़ से कसकर बांध दिया और कुछ दूर पर वे सो गए जैसे ही चूहे ने देखा कि शिकारियों को नींद आ गई है उसने धीरे धीरे रस्सी काटनी शुरू कर दी कुतर कुतर कर धीरे धीरे उसने सारी रस्सी काट दी और और हाथी को छुड़ा लिया गज्जू हाथी ने रस्सी खुलते ही चूहे को सूंड पर उठा लिया और भाग चला वापस पहुंचकर उसने चूहे से कहा आज मुझे मालूम पड़ा कि कान बड़े हों या छोटे जो कान सुनने में तेज हों वे ज्यादा अच्छे हैं मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान न दिया इसीलिए मुझे ये फल मिला अब मैं कान पकड़कर वादा करता हूं कि कभी घमंड नहीं करूंगा तो बच्चों अब तुम्हें कान का एक गाना सुनाएं। नहीं सुनाई पड़ता हमको